सिखा मन हर प्रीत है बाबा हर नाम हर तेरी राम राय कर से वह पूरा सदगुरु बाबा भूख जाए लह मेरी गुरसिखा की भूख सब गई और खाए कलेरी जन नायक हर भूल दीजिया बाबा फिर तो आवे हर केरी राम राजे जी मैं वाली राम राजे श्लोक महला पहला पहला सुचा आप हुए बैठाया सुचा अगर रखियो कोई न पिटी हो जाए सुचा हो के जिवे लगा पर श्लोक को छिजे सुचा किसे लगा दो अनु देवता मनु देवता मैं सुंदर देवता नु पंजवा पाया कितना हुआ पाक बेटे पापी से उतन कटे सुखा पया चेत नाम ना तिरा बिना रस खाए नान के वैदानिया तुम सुखा पाए महला पहला जमिया पान मंगण वियाहो पंडो हुआ तो उसी पंडो चला पंडुआ पंडो है बंदा छोटे बंदा किया है पंडा होई पांडू बुझे पंडा बायना को ना पंडा बाहर है को सच्चा सोए जित मुख सदा साला है पागल तीजा सजड़ा दरबार पर सब का अपना जितना ही बाबा सोचन करिया किताब अपना आपे ही बाबा लेखा सनिया जरण नहीं जग काकायत तो बाबा गाल मोहनिया परियल कर बाबा हे हो बुझिया मूर्ख बाबा नालन दिया हमारिया मौली साहब को आखा अपना जिस ही सोचन दिया किताब को अपना आप ही लेखा संडी है या रहना नहीं है जब तक आहित गार बहंडिया मंदा किसान आती है पर करे हो है मूर्ख है नाल नंदिया